अल्लाह तुम्हारी लव कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा अलबत्ता जो कस्में तुमने अपने दिलों के इरादे से खाई होंगी उन पर गिरफ्त करेगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा पुरस्कार है